बेशक हमने उन्हें इसी तरह आजमाया है जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था जब उन्होंने कसम खाई थी कि हम सुबह होते ही जरूर इस बाग का फल तोड़ लेंगे